अब उसने डरते डरते नैना को बताया कि उस दिन जब मैं लड़की देखने के लिए गया हुआ था ना तब माँ मेरी शादी के पीछे पड़ी हुई थी बहुत परेशान कर दिया था उन्होंने फिर मैंने उनसे पीछा छुड़ाने के लिए तुम्हारी फोटो उन्हें भेज दी थी और कह दिया था कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो विक्रांत ने बेहद शर्माते हुए कहा अच्छा तुम तुम प्लीज थोड़ा संभाल लेना माँ को पता ना चले कुछ वरना फिर वो इमोशनल ड्रामा शुरू कर देंगी ओ है ना प्लीज तुम मेरी मदद करो मैं तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा बट अभी प्लीज मुझे इस प्रॉब्लम से निकाल लो वरना मैं ढंग से काम भी नहीं कर पाऊंगा विक्रांत की बातें सुनकर नैना भी मुस्कुरा पड़ी वाह तुम इतने सॉफ्ट भी हो क्या बात है चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ लेकिन ये बात है याद रखना कि सिर्फ एक बार और हाँ तुमने जो प्रॉमिस किया है वो मत भूलना नहीं कभी नहीं भूलूंगा जो एक बार कह दिया सो कह दिया तुमको कुछ भी काम हो तुम उसे कह देना मैं जरूर करूंगा विक्रांत ने नैना के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा अच्छा अगर मेरी माँ की कुछ भी बात तुम्हें बुरी लगे तो प्लीज बुरा मत मानना और और कुछ भी हो सब मेरे ऊपर डाल देना सब मेरी गलती बता देना ठीक है विक्रांत को देखकर नैना जोर से हंस पड़ी लेकिन फिर वो बिना कुछ बोले ही किचन की तरफ निकल पड़ी फिर से वो माँ के साथ किचन में काम करने लग गई अरे बेटा आगे तो माँ ने नैना को देखते हुए कहा बेटा सच कहूँ तो मैं खुद को बहुत लक्की मानती हूँ मुझे तुझ जैसी बहू मिल गई जरूर मैंने पिछले जन्म में कुछ अच्छे काम किए रहे होंगे मेरे बेटे ने भी पिछले जन्म में ही कुछ अच्छा किया रहा होगा इस जन्म में तो कुछ अच्छा किया नहीं इसने पता नहीं इस कैसे इतनी अच्छी लड़की मिल गई वैसे बेटा ये बाहर से कितना भी बुरा हो लेकिन इसका मन बहुत साफ है तुम्हें बहुत खुश रखेगा इसको कभी छोड़ना मत माँ एकदम सीरियस हो गई है क्या विक्रांत किचन के बाहर ही खड़े होकर इन दोनों की बातें सुन रहा था तभी किचन के स्लैब से कुछ सामान नीचे जमीन पर गिर गया नैना झुककर उसे उठाने लगी इसी बीच वो विक्रांत की तरफ देखकर उसे घूरने लगी उसे देखकर विक्रांत के चेहरे पर पसीना छा गया वो फिर से बेडरूम की तरफ भागा और फिर इस बार उसने माँ को आवाज लगाई माँ सुनना एक मिनट विक्रांत ने कहा बेटा रुक एक मिनट मैं आती हूँ माँ ने नैना की तरफ देखते हुए कहा और फिर वो किचन से निकलकर बाहर आ गई माँ तुम पागल हो क्या क्यों इसे लेकर आई हो यहाँ पर और ये बहू बहू क्या लगा रखा है विक्रांत ने चिड़ते हुए सवाल किया अरे मैं कहा लेकर आई मैं तो मार्केट गई थी वो वहाँ ये मिल गई मैंने इसे पहचान लिया तो फिर थोड़ा बात करने लग गई फिर मैंने उसे नॉर्मली कह ही दिया कि बेटा कभी घर पर आओ तो वो खुद ही तुरंत आने के लिए तैयार हो गई अब मैं क्या करती फिर माँ ने विक्रांत को सब कुछ एक्सप्लेन किया अच्छा एक बात तो है ये लड़की बहुत अच्छी है मुझे तो ठीक ठाक घर की लग रही है नौकरी भी करती है मुझे तो ये लड़की बहुत पसंद है तू इससे शादी कर लेगा तो फिर तुझे किसी चीज की टेंशन नहीं रहेगी माँ ने बेहद धीमी आवाज में विक्रांत को समझाते हुए कहा ताकि आवाज किचन में ना जाए मैं तो कहती हूँ बेटा जल्दी से कोई अच्छा सा मुहूर्त निकाल कर शादी कर ले तू मैं मैं आज ही अपने पंडित जी से बात करती हूँ माँ क्या कर रही हो अभी हम लोग शादी के लिए तैयार नहीं है आप जबरदस्ती शादी करवाओगे क्या विक्रांत ने माँ का हाथ पकड़कर उन्हें कोने में ले जाकर कहा आपको पता भी है उसकी फैमिली के बारे में बहुत पैसे वाले घर से है वो जितने का हमारा घर होगा उतने रुपए की गाड़ी गाड़ी लिए चलती है वो उसकी फैमिली बहुत रिच है ये ऐसे आपकी तरह मोमोज खाने के लिए किसी को नहीं बुलाते ओ समझी हाँ सच में माँ ने चौंकते हुए कहा तूने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया इतने पैसे वाले घर की है तो फिर तुझे पहले बोलना चाहिए था ना क्यों क्या करती फिर अब विक्रांत ने क्यूरियस होते हुए पूछा लेकिन तब तक माँ वापस किचन में पहुंच चुकी थी अरे बेटा तू तू इतनी देर से काम कर रही है जा जा थोड़ा आराम कर ले विक्रांत बहू को ले जा माँ ने चिल्लाते हुए विक्रांत को बुलाया विक्रांत बहू को पानी दे पीने के लिए थक गई है बेचारी अरे नहीं आंटी थकड़ा क्या कर ही क्या रही हूँ मैं बस मोमोज का रोल ही तो बना रही हूँ ये भी कुछ थकने वाला काम है नया ने बड़ी शालीनता से जवाब दिया अरे बेटा लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं मैं बिल्कुल नहीं थकी हूँ मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ आपके साथ काम करना अच्छा तूने तो यूनिफॉर्म ही पहना हुआ है जा कम से कम कपड़े तो बदल ले थोड़ी राहत मिल जाएगी माँ ने फिर से कहा अरे ठीक है आंटी कोई दिक्कत नहीं है मुझे आप परेशान मत होइए अच्छा विक्रांत बहू को ले एसी ऑन कर दो गर्मी लग रही होगी नहीं आंटी मैं बिल्कुल ठीक हूँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है नैना ने जवाब दिया इसके बाद माँ के पास भी कुछ कहने के लिए नहीं रहा अब दोनों शांत होकर किचन में काम करने लग गए वहां पर अब बिल्कुल शांत माहौल बन चुका था विक्रांत ने भी अब राहत की सांस ली अब मौका पाकर वो बाथरूम में घुस गया उधर विक्रांत के जाने के बाद नैना को भी अपने दिल की बात कहने का मौका मिल गया था उसने माँ से बात करते हुए कहा आंटी विक्रांत की सब आदत तो ठीक है लेकिन मुझे उसकी कुछ आदत बिल्कुल अच्छी नहीं लगती आपको पता है यहाँ घर के बगल में पता नहीं कौन दो लड़कियां रहती हैं वो हमेशा इसके घर पर आती रहती है ये लड़कियों को अपने घर में बुलाता है विक्रांत भले ही बाथरूम में था लेकिन उसका कान किचन में ही चल रही बातों पर ही लगा हुआ था जैसे उसने नैना के मुंह से यह बात सुनी वो भागता हुआ बाथरूम से बाहर आ गया नैना की बातें सुनकर विक्रांत सोच में पड़ गया ये नैना माँ से ऐसी बातें क्यों कर रही है इसको जलन होती है क्या जब भी मेरे करीब कोई लड़की आती है नैना कहीं मुझसे हाँ बेटा तू सही कह रही है जब से मैं यहाँ आई थी ना तो एक लड़की इसको कुत्ता देने के लिए आई थी माँ ने भी नैना की बातों से सहमति जताते हुए कहा मुझे वो लड़की जरा सी भी नहीं है पसंद शक्ल से ही लग रही थी कि वो बहुत दुष्ट है मेरे बेटे को अपने जाल में फंसा रही है लेकिन तू चिंता मत कर बेटा जब तक मैं यहाँ हूँ उसे विक्रांत के पास फटकने नहीं दूंगी मैं देखती हूँ कैसे वो मेरे बेटे को अपने जाल में फंसाती है विक्रांत बड़े ध्यान से उन दोनों की बातें सुन रहा था लेकिन तभी उसके दरवाजे पर किसी के आने की दस्तक हुई विक्रांत भागता हुआ दरवाजे के पास पहुंचा और दरवाजे में बने सीक्रेट होल से बाहर झांक कर देखने लगा अबे यार मर गए ये ये यहाँ क्या कर रही है दरवाजे पर विक्रांत की दोनों पड़ोसी मोनिका और जीनत खड़ी थी